प्यायन्तु ममाङ्गानि प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलविन्द्राणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम् माहम् ब्रह्मनिराकुर्या मा मा यौपनिषत्सु धर्मास्ते ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति सामवेदीय छांदो के परिषद प्रथम अध्याय द्वितीय खंड के नवम मंत्र के ऊपर कुछ विचार चल रहा था अन्य इंद्रियों के समान नहीं है मुख्य प्राण क्यों इसके द्वारा सुगंधि दुर्गंधि कुछ भी सुना नहीं जा सकता लोग नहीं सुनते हैं ये अपहत पापमा है पाप रहित है क्योंकि इसको आसक्ति नहीं है आसक्ति जन्य पाप इसमें नहीं है उसके विषय में आसक्ति नहीं है ये इस मुख्य प्राण के द्वारा लोग जो खाते पीते हैं उसके द्वारा अन्य प्राणों की रक्षा करते हैं मानी इंद्रियों की रक्षा होती है पुष्टि करते हैं अंतिम समय में इसी मुख्य प्राण के वृत्ति को प्राप्त न करके इंद्रिया जितने भी हैं गौण प्राण मुख्य प्राण की वृत्ति अन्नपान है अन्नपान प्राप्त नहीं करेंगे वो प्राण खाना छोड़ देता है तो इनको नहीं मिलेगा उसके द्वारा खाना था इसलिए क्या कहते हैं उत्क्रामति इंद्रिय समुदाय निकल जाती है से निकलना पड़ता उनको भूख के कारण खाने की इच्छा नहीं है बात नहीं खाने की इच्छा उनकी होती है दिए वह अंततः आश्रम बोला हुआ है अंतिम में वो खाड़ देते हैं मैंने वो उनकी अशी शीशा है खाने की इच्छा है ये लिंग है ज्ञापक है मुख फाड़ना जो दिखाई पड़ता है इससे लगता है कि इंद्रिया भूखी है चाहती है किंतु वो स्वयं खा नहीं सकती मुख्य प्राण के द्वारा खाना था उसने खाना छोड़ दिया वो निकलने की इच्छा में है उसने खाना छोड़ दिया तो इसलिए मुख फाड़ते हैं लिंग बनता है ये जो मुख फटा हुआ दिखाई पड़ता है अंतिम समय उससे पता लगता है इंद्रिया छटपटा रही भूख के बारे एक कहा था इसका भाष्य हो गया था टीका के साथ देखना इसका मुख्य प्राण से पाप में वेदाभाव उपसंगति मुख्य पाप में पाप का वेद का अभाव है आसक्ति रूपी पाप उसमें नहीं है मुख्य प्राण में कोई विषयों की आसक्ति नहीं है तो पाप में वेद का जो अभाव का उपसंगार करते हैं अतश्च इत्यादि भाष्य में कहा था अतश्च पाप में कार्य अदर्शनार्थ मुख्य प्राण में पाप का कार्य नहीं दिखाई पड़ता है <clears throat> मैंने दुर्गंधी आदि सोमना जो पाप का कार्य है तत्त इंद्रियों के जो दुर्गंधि को ग्रहण करना वो नहीं दिखाई पड़ता है अपहत पापमा के प्राण अपहत पापमा माने अपहतो विनाशिता अपनीता पापमा माने यशमा जिससे पाप विनाश हो गया है पाप निगल गया है पाप है नहीं आशक्ति आसक्ति अपहत पापमा ये सह विशुद्ध इत्यर्थ ये मुख्य प्राण विशुद्ध है ये कहा था ठीक है इसकी पाप में कार्य इसमें आसंग पाप का कार्य क्या है कहते हैं आसक्ति विषयों में आसक्ति इंद्रिया जो तत्त इंद्रियों की तत्त विषयों में जो गंध ग्रहण आदि का जो आसक्ति है यही पाप का कार्य है पाप में कार्य आसंग पाप का कार्य क्या है आसंग मानी इंद्रियों ने पाप से वेदित किया वेदित होने से आसक्ति उनमें है आसंग तस् प्राणे अनुपलम भाव वह आसक्ति नहीं है प्राण में वह आसंग नहीं है प्राण मुख्य प्राण में न होने से इत्यतः यदि अत शब्द से ही अर्थ है अत शब्द का ही अर्थ है कहते हैं पाप कार्य ये अतः जो दिया था भाष्य में उसी का अर्थ है पाप कार्य अदर्शनाथ उसी का व्याख्या किया है अत पंचमंत है पाप कार्य अदर्शनाथ उसी का अर्थ है ऐसा टीकाकार बोल रहे ही शब्द है ना उत्तम पापमा वेदम विशुद्धि हेतु कृत्य मुख्य प्राण विशुद्धि में उपसंगति का ही शब्द है ए सही ऐसा ही ऐसा तेना ये रचनाती था अपहत पापमा ही ऐसा ऐसा है ये ही शब्द के द्वारा कहा गया जो पापमा का अवेद है पाप का वेद नहीं है आसक्ति नहीं कहा वो विशुद्धम हेतु है पाप का वेद नहीं है इसलिए विशुद्ध है मुख्य प्राण तो मुख्य प्राण विशुद्धि मुख्य मुख्य प्राण के विषय में जो विशुद्धि कहा गया उसको उपसंकार करते हैं ये सब विशुद्ध इत्यर्थ ये मुख्य प्राण विशुद्ध है ये कहा ठीक है तस्य विशुद्धत्व हेतु मुख्य प्राण में विशुद्धत्व अनुमान मुख्य प्राण शुद्ध है विशेष शुद्ध है इसमें अन्य हेतु भी है एक तो पाप का कार्य उसमें नहीं है आसक्ति नहीं है और दूसरी बात और भी है हेतु और भी यशमाच करेंगे बोलते हैं यशमाच आत्मम यह सबके सब आत्मम भरी है स्वार्थी है इंद्रिया अपने में विषयों को दूसरों को नहीं देते अपने पास ही रखते हैं ये पेट पेट्टू है सब सारे इंद्रिया पेट्टू है अपने अपने पेट भरने वाले हैं चक्षु जो भी रूप देखेगी उसका आनंद स्वयं को ही है वो दूसरे किसको मिलना हो ग्रहण इंद्र जो गंदगी ग्रहण करना उसका जो आनंद होगा उसी को ही है ये पेट्टू है सब दूसरे को नहीं कहते आत्मम भरी है ये सब अपने के स्वार्थ अपने पेट भरने वाले को आत्मभरी बोलते हैं ये आत्मम्बरी है सबके सब से आत्मम भराया कल्याणादि आशंकवत्वाद घृणादय क्यों वह आसक्ति से युक्त है इसलिए आत्मभरी होते हैं कल्याण आदि जो कल्याण गंध करने का सौभाग्य तो मेरा ही है और कल्याण रूप देखने का तो सौभाग्य मेरा ही है सब में ऐसा अभिमान है इसलिए आत्मभरी होते हैं न तथा आत्मभरी मुख्य मुख्य प्राण आत्ममरी नहीं तो किमतर ही कहा सर्वार्थ वो सबके लिए है वो मुख्य प्राण सबके लिए है सबके उसी के द्वारा खाया पिया के द्वारा सबकी रक्षा होती है सबके लिए है ठीक है अतो विशुद्ध इति उत्तर संबंध किम तरी सर्वार्थ अतो विशुद्ध आगे अतो विशुद्ध शब्द आएगा उसके साथ संबंध सर्वार्थ है इसलिए विशुद्ध है जो सबके लिए होता है वो विशुद्ध होता है जो अपने लिए होता है वो पाप पाप के द्वारा व्यहित होता है ये आता आता है सर्वार्थत्व प्राण से प्रश्न पूर्वक प्रवेश सबके लिए है प्राण कहा था मुख्य प्राण वो प्रश्न पूर्वक उसकी व्याख्या करते हैं प्रश्न कैसे सर्वार्थ है वो सबके लिए कैसे है मुख्य प्राण ये प्रश्न है कथम ये प्रश्न हुआ कैसे मुख्य प्राण सर्वार्थ है सबके लिए है तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर दिया भाष्यकार ने कहा तेन मंत्र में था तेन यद अस्नाति यद पिबती तेन इतरान प्राण अवती ये मंत्र है उसी का अर्थ करना है उस मुख्य प्राण के द्वारा जो खाते पीते हैं लोग उसके द्वारा अन्य प्राणों की रक्षा करते हैं लोग रक्षा करता अन्य इंद्रियों की रक्षा मुख्य प्राण से खाने पीने से होती है यही है इसलिए वो सर्वार्थ है सिद्ध होता है कहा तेरा मुख्य न यद अस्नाती यद पिबती जो मुख्य प्राण के द्वारा लोग जो खाते हैं जो पीते जो खाता पीता है व्यक्ति खाता है लोग एक अस्नाति पिबती का करता लोग प्राण नहीं मुख्य प्राण के माध्यम से जो खाता पीता है व्यक्ति वह अशितेन पीते न उस खाया पिया हुआ के द्वारा तेन अशितेन पीते न जो भोजन किया मुख्य प्राण के माध्यम से उसके द्वारा इतरान घृणादीन अवधि पावे अन्य घृणादि तो अवति मैंने पालयती रक्षा करता है अवरक्षण धातु है ठीक है घ्राणादि इति आदि शब्द है ना कार्य में भी उच्चते घ्राणादि की रक्षा करता है तो उसके कार्य भी लेना है कार्य में भी तो उच्चते कहा तृप्ति जो होगी वो भी है कार्य है तृप्ति तेना यथा तृप्यंती उस मुख्य प्राण के द्वारा खाया पिया के द्वारा ये तृप्त हो जाते हैं ये कार्य होता है वो रक्षा करता है तो तृप्त हो जाता है तृप्यंती तेरह एता तृप्यंती तंत्र से मान वृद्ध आदमी में कहा है उस मुख्य प्राण के द्वारा खाया पिया हो द्वारा ये सब की ये सब तृप्त होते हैं ऐसा आया है उसी को लेकर कहा ते नहीं इत्यादि के भाषा में कहा ते नहीं तेसाम स्थिति भवती मुख्य प्राण के द्वारा ही तेरह मुख्य प्राण प्राण के खाया पिया के द्वारा तेसाम इंद्रियाणा अन्य इंद्रियाणाम स्थिति होती अन्य इंद्रियों की स्थिति उनसे तो ही है मुख्य प्राण जब तक नहीं खाएगा इनकी स्थिति नहीं ऐसा अतः सर्वम भर प्राण हो विशुद्ध इसलिए मुख्य प्राण अतः सर्वम भर वो सर्वम भर है सबके रक्षा करने वाला है सबके भरण पोषण करने वाला है वो सर्वम भर होता है अतो विशुद्ध है वो सर्वम्भर है इसलिए विशुद्ध है स्वार्थी नहीं है वो वो परार्थी है इसलिए विशुद्ध है मुख्य प्राण ये कहा तो सर्वम भर शब्द में आत्मम भरी में तो या ई प्रत्यय लगा करके आत्मम भरी कहा था किंतु यहां सर्वम भर में अ लगा हुआ है तो कैसे तो टिप्पणी में कहा संज्ञायाम भेत्री ब्रीनी धारी सहित अभी तम खच खच प्रत्यय हुआ है सर्वम भर में खच करके बनाया ये कहा अच्छा आगे कहते हैं टीका में प्राणवृत्ति हेतुभ्याम अन्नपानाभ्याम संघात स्थिति अर्थ अतः सर्वम भर में अर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है कहते प्राण की वृत्ति जो है अन्नपान प्राणवृत्ति का प्राण के रहना क्या हेतु क्या है अन्नपान अन्नपान करेगा तो प्राण चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा प्राणवृत्ति का जो हेतु है अन्नपान हेतुभ्याम अन्नपानाभ्याम प्राणवृत्ति के हेतु जो अन्न और पान है उनके द्वारा ही संघात की स्थिति होती है रक्षा होती है प्राण की वृत्ति का हेतु बनता है अन्नपान भोजन पानी माने अन्नपान लेगा तो प्राण की वृत्ति प्राण चलता रहेगा तो उनके हेतु होता है अन्नपान उनके द्वारा ही इनकी स्थिति होती है संघात पूरे सर इंद्रिय शरीर समुदाय की ये अतः शब्द का अर्थ अतः प्राण के द्वारा लिया गया अन्न के द्वारा सबकी स्थिति होती है इसलिए सर्वम भरा है अतः शब्द का अर्थ कर दिया सर्वार्थत्व द्वितीय से अतः शब्द अर्थ कहते हैं भाष्य में दो बार अतः शब्द आया एक तो प्रथम पंक्ति में है अतश्च और एक अतः सर्वम वर्ग ये द्वितीय जो अतः शब्द है अतः सर्वम वर्ग शब्द का अर्थ होगा कि सर्वार्थत्व होने से सर्वार्थत्व है सर्वार्थ होने से सर्वम वर्ग मुख्य प्राण उपयुक्तत्वाद अन्नपाना नाम संघास्थिति हेतु हेतुत्व इत्यत्र प्रश्न पूर्वकम लिंगन दर्शन मुख्य प्राण के द्वारा उपयोग किया गया अन्नपान के द्वारा संघात की स्थिति होती है शरीर इंद्रिय समुदाय की स्थिति होती है रक्षा होती है इसमें संघात का कारण बनता अन्नपात जो कहा इसमें प्रश्न पूर्वक हेतु दिखाते हैं लिंग माने हेतु होता है हेतु दिखाते हैं कथम प्रश्न करते हैं कैसे होगा मुख्य प्राण के द्वारा खाए पिया के द्वारा सर्व की स्थिति तब कहते हैं कथम पुनर्मुख्य आश्रित पीताभ्याम स्थिति ऐसा गण्य थे ये प्रश्न है कैसे ये जाना जाता है कि मुख्य प्राण के द्वारा खाया पिया अन्न जल के द्वारा इनकी स्थिति होती है अन्य इंद्रियों की शरीर आदि की स्थिति होती है कैसे पता लगा तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर दिया क्योंकि <clears throat> उत्प्रेत ग्रंथ से कहते हैं ये तमु एवं अंत तो अवित्व उत्क्रामती यही लिंग है इसी मुख्य प्राण की वृत्ति को प्राप्त करने करके अंतिम अवस्था में इंद्रिय समुदाय निकल जाती है हाँ। उत्क्रामती इंद्रिय समुदाय उत्क्रामती मुख्य प्राण खाता पिता पे तो बैठे रहते मुख्य प्राण ने खाना पीना छोड़ दिया ये भूखे प्यासे हो गए इसलिए निकलना पड़ता है इनको ये कहते हैं ये भाष्य में कहते हैं एतम ये मुख्य प्राण को एतम ऐसा है एतम मुख्य प्राणम ये जो मुख्य प्राण है मुख्य प्राण से वृत्ति अन्नपान है एक मुख्य प्राण का अर्थ मुख्य प्राण की जो वृत्ति है अन्नपान उसको प्राप्त न करके अभित्वा अंततमान अंतिम काल में उसको प्राप्त न करके अंतिम समय में अंततमान अंत मरण काले व्यक्ति के मरण काल में इस मुख्य प्राण की वृत्ति अन्नपान है अन्नपान को प्राप्त न करके अन्य इंद्रिय समुदाय अभित्वा माने अलब्धवा प्राप्त न करके विद्री लाभ ही धातु होता है उसका क्वा करके अभित्व नवित्व उसको प्राप्त न करके अलभवा उत्क्रामती या इंद्रिय समुदाय उत्क्रामती मानी घृणादि समुदाय उत्क्रामती ये अर्थ होगा उत्क्रामती का अर्थ है घृणादि समुदाय इंद्रिय समुदाय निकल जाता है अन्नपान नहीं मिला मुख्य प्राण के द्वारा खाना था उसने खाना छोड़ दिया इसलिए निकल जाता है ठीक है वृत्ति में वो विशेष ठीक कहा वृत्ति क्या है मुख्य प्राण की वृत्ति तो अन्नपान है अन्नपान उसकी वृत्ति है उसकी रहने के लिए अन्नपान है उसने खाना छोड़ दिया तो अन्न इंद्रिय निकल गए कहते हैं अनु अहम उपपूज्य माने अन्नपान है प्रतिदिन यहाँ अहम शब्द है ना अहम शब्द है वो हाँ, अनु अहम अहम है वहां टच प्रत्यय हुआ है राजा तदंत होने से अह अदंत बन गया अहम बना अनु अहम उपज्यमान अन्नपाने प्रतिदिन खाया गया जो उपयुक्त किया गया अन्नपान है ये दोनों प्रथम द्विवचन है अन्नपान ये प्राणस्थि हेतु प्राण हेतु स्थिति के हेतु होते हैं अन्नपान दोनों प्रथम द्विवचन है अन्नपान है यह सप्तमंत्र में समझना प्रतिदिन खाया गया किया गया जो अन्न और पान है ये प्राण स्थिति का हेतु है प्राण से उच्चक्री में उच्चीक्रमीशायाम अभी संघात से स्वयं असनापाने कृत्वा थास्यति संघात थास्यति पूर्व पक्षी की शंका होती है कि प्राण जब निकलना चाह रहा है प्राण से मुख्य प्राण की उच्ची क्रमी उच्च क्रमित इच्छायाम निकलने की इच्छा हो रही है मुख्य प्राण की शरीर से निकलने की इच्छा होने पर भी संघात स्वयं असनपान कृत्वा था समुदाय इंद्रिय शरीर समुदाय स्वयं खा पी करके रह जाएगा ये क्यों जाएगी निकलेंगे ये शंका है यदि आशंका ऐसा शंका करके कहा अप्राणो ही भाष्य कहा अप्राणो ही न सप्तोती अशितम पातुम ये संघात खाना पीना कुछ नहीं कर सकता इंद्रिया आदि कहते ये समुदाय क्यों अप्राण होने पर प्राण रहित होने पर नहीं ये कुछ नहीं कर सकते खाना पीना नहीं कर सकते तेरह इसी कारण से कारण से खाना पीना बंद होने से तदा उत्क्रांति प्रसिद्ध उस काल में अंतिम काल में इन इंद्रिय समुदाय की उत्क्रमण प्रसिद्ध है ग्रहणादि कलाप से तदा उत्क्रांति प्रसिद्ध है ग्रहणादि जो समुदाय है कलाप मान समुदाय उसके निकलना प्रसिद्ध है एक ठीक है तदा का अर्थ क्या करना तदा उत्क्रांति कहा तदा का अर्थ तदा बने प्राण उच्ची क्रमिश अवस्था है प्राण निकला नहीं है निकलना चाहता है उसी अवस्था में ये निकल जाते हैं पहले पहले ये इनको निकलना पड़ता है क्योंकि वाणी वाणी में सब एक होते वाणी प्राण मिलीन मन मिलीन हो जाती है और मन प्राण मिलीन हो जाता है अंतिम समय ऐसे आता है तो इसलिए पहले इंद्रिया ही निकल जाती है प्राण अभी निकलने की इच्छा में निकला नहीं है उस अवस्था में है ये कहना चाह रहे हैं ठीक है मैं ये बोला तदा मैंने प्राण उच्ची क्रमीशा अवस्थायाम यह तदा का अर्थ है प्राण के निकलने की इच्छा की अवस्था में प्राण निकला हुआ नहीं है निकलने की इच्छा होते ही उन वही निकल जाते हैं पहले ये कहा शंका है अभी ननु उत्क्रांति अवस्थायाम अशिशिषादि अभाव आदि संघात से उत्क्रांति न तो असनादि अभाव कहते जब निकलने का उत्क्रांति अवस्था है अंतिम समय में निकलने का अवस्था है प्राणादि समुदाय को इंद्रियादि को उस अवस्था में खाने की इच्छा नहीं है उनमें अशिशिषादि अभाव अशितुम इच्छा अशिशिषा उसका इच्छा के अभाव है वहां खाना नहीं इच्छा नहीं होगी खाने की इसलिए निकल जाती है न कि वह भोजन पानी नहीं कर सकते एक आदमी नहीं कर सकते हैं वो मुख्य प्राण के बिना भी कर सकते हैं खाने की इच्छा नहीं है इसलिए निकल गए भूख प्यास नहीं है खाने की इच्छा नहीं है तो भोजन नहीं कर सकते यानी मुख्य प्राण के बिना कर सकते हैं वो ये शंका है ननु उत्क्रांति अवस्थायाम माने जब इनके निकलने का जो समय होगा उस काल में अंतिम अवस्था में आदि अभाव आदि संघात इससे उत्क्रांति ये नहीं क्यों मानी भूख प्यास के न होने की इच्छा न होने के कारण से संघात के निकालना होता है न तो असनादि अभाव खा नहीं सकते पी नहीं सकते ऐसी बात नहीं खा सकते हैं पी सकते हैं वो ये शंका आ गई इसलिए कहते हैं अभाव तत्र प्रमाणाभाव वो खा पी नहीं सकते इसमें कोई प्रमाण तो नहीं मिलता ना कोई ज्ञापक हेतु नहीं मिलता प्रमाण नहीं मिलता वो तो खाने की इच्छा नहीं है खा खा के तृप्त हो गए जीवन भर खाते रहे तृप्त हो गए निकल रहे भूख प्यास स्वयं खा सकते हैं पी सकते हैं इच्छा नहीं इसलिए पीने के लिए यह अर्थ कर दिया जाए ये कहते हैं तब कहते हैं नहीं ऐसा नहीं दृश्यते ही कहा दृश्यते ही हो प्राण से शिशा ये प्राण समुदाय मैंने आदि समुदाय इंद्रिय समुदाय की खाने की इच्छा दिखाई पड़ती है अंतिम काल में क्यों मुख फाड़ देते हैं ना वो इसलिए मतलब कुछ खाना चाह रहे हैं ऐसा लगता है देख करके खाने की इच्छा है हाँ, ये नहीं कि भूख नहीं है बात नहीं खाने की इच्छा है दृश्य दे उत्क्रांत हो प्राण से अशिशिशा ये प्राण माने इंद्रिय समुदाय की भूख प्यास है ऐसा लगता है दिखाई पड़ता तो व्याधतादि एवं अश्य विदारण करो तो ये व्याधतादि एवं खोल देता है वो कुछ काल में कुछ डाल दे यहां माने अश्य विदारण करोती इत्यर्थ माने मुख को विदारण कर देता है समुदाय प्राण समुदाय समुदाय अन्न अलावे उत्क्रांत से अन्न की अप्राप्ति से ही ये लिंग मिलता है निकल रहे हो खाने की इच्छा नहीं ये बात नहीं खाने की इच्छा है तभी तो मुख फाड़ रहे हो मुख फाड़ा जा रहा है ये कहा ठीक है तद यदि मुख्य व्यादान उच्चते हाँ। तत् शब्द से क्या लेना है कि मुख्य व्यादान तद ही माने तत्पद से क्या लेना मुख्य मुख खोलना मुख्य माने मुख में होने वाला जो खोलने क्रिया को मुख्य बोल दिया गया मुख का जो व्यादान मुख्य पाठ है मुख पाठ है मुख्य हाँ, मुख्य भगव मुख्य व्यादान क्रिया उसको लेकर के किया मुख्य नहीं तो मुख होना था मुख व्यादान बोलना था टीका में मुख्य बोला है तो मुख में मुख संबंधी होने से व्यादान क्रिया को मुख्य बोला है मुख्य व्यादान अन्न ग्रहणम पान उपलक्षण अन्न ग्रहण अशी शीशा कहा पिपासा भी है ये नहीं पीने की इच्छा ना हो ऐसी बात नहीं पीने की इच्छा भी उनकी रहती है ये कहा आगे मंत्र है तमहांगिरा उदीतम उपासन चक्रे एतमुएव आंगिरसम मनते अंगाणस तमहांगिरा उदीतम उपासन चक्रे एतमुएव आंगिरसम मनते अंगाणस तम है अंगिरा उदगीधम उपासना से अंगिरा नाम के एक ऋषि हुए हैं अंगिरस शब्द होता है अंगिरा प्रथमा योगन बनना है अंगिरा नाम के ऋषि ने उस मुख्य प्राण की उपासना की मुख्य प्राण दृष्टि से उद्गीत की उपासना की अर्थ है किस गुण को डाल करके तो अंगिरस गुण को डाल करके उसमें अंगिरस गुण का विधान संपद उपासना की उद्गीतम उपासना चक्र संपद उपासना है मान उदगिर की उपासना की है मुख्य प्राण दृष्टि से एतम एवं हम इसी मुख्य प्राण को आंगिरस कहते हैं अंगिरस ने उपासना की है यह अंगिरस कहलाता है मुख्य प्राण मनंत मान वेदांति लोग इसको अंगिरस कहते हैं वैदिक लोग अंगिरस कहते हैं मानते हैं क्यों अंगिरस कहेंगे मुख्य प्राण को अंगानाम यह रजा इस शरीर के अंगों का सार है वो प्राण है तो ठीक है प्राण नहीं तो कुछ नहीं है अंगों का रस सार है इसलिए उसको अंगिरस कहा एक तो अंगिरा ऋषि ने उपासना की है और लोग इसको क्या मानते हैं अंगिरस बोलते हैं क्यों बोलते हैं यह अंगों का सार है शरीर के अंगों का सार है प्राण के बिना कुछ नहीं होता प्राण जब तक प्राण है तब तक है कुछ प्राण नहीं तो कुछ नहीं सार है एक कहा ठीक है कहते हैं विशुद्धि गुण का मुख्य प्राणात्म उद्घाटन दृष्टिया उदगित अभयभूतम ओंकाराख्यम अक्षरम उपास्यम उत्तम अभी तक यही कहा था विशुद्धि गुण वाला मुख्य प्राण विशुद्धि गुण है विशुद्ध गुण विशुद्धि गुण का गुण वाला मुख्य प्राण प्राणात्मा उद्घातिक दृष्टा उद्घातिक दृष्टिया उद्गात्रिक दृष्टि से उदगित के अवयव जो ओंकार है उदगित कर्म है उसका अवयव ओंकार है हाँ, उसके ओंकाराख्यम अक्षरम उपास्यम ओंकारा अक्षर जो अक्षर है उसकी उपासना करनी चाहिए यदि उत्तम पूर्व में कहा इधानी तत्र उसी मुख्य प्राण में ही आंगिरस बृहस्पति बृहस्पति आयास्य गुणत्रय विधान आत्म तीन गुण की विधान करना है तीन मंत्र आएंगे आंगिरस और गुण और बृहस्पति गुण और आयास्य गुण ये तीनों गुणों के विधान के लिए उत्तर ग्रंथम उत्थापित आगे ग्रंथम उत्थापित होगा उसी मुख्य प्राण को आयास्य कहेंगे अगले मंत्र में आगे बृहस्पति बोलेंगे उसी को तीन मंत्र होगा ये मुख्य प्राण में संपद उपासना मैंने इसमें ये आंगिरस गुण का विधान आंगिरस दृष्टि से उपासना करना अथवा बृहस्पति दृष्टि से उपासना करना अथवा आयास्य दृष्टि से उपासना करना ये कहना चाह रहे हैं तो ये अंगों का रस है सार है इसलिए अंगिरस है यह अर्थ आया भाष्य में कहते हैं तम अंगिरा तम मुख्यम प्राणम तम का अर्थ करना मतलब मंत्र में तम को मुख्य प्राण मुख्यम प्राण भ अंगिरा इतम गुणम अंगिरा नाम के गुण विशिष्ट करके उदगीतम उपासना चक्रे उपासना की अंगिरा ने उपासना की तम अंगिरा उपासना चक्रे अंगिरा ने उपासना की अंगिरा गुण मान करके वहां कर्ता भी अंगिरा है और गुण भी अंगिरा है अंगिरस है अंगिरा ऋषि ने उपासना की उपासना की बको दालव्य इति बक्षमाण में संबंध माने ये वृत्तिकारीय मत है इसका कर्ता होगा बका दालव्य आगे आएगा दल्व का संतान डालव्य बक नाम है दल्व का संतान है उसने उपासना की या अंगिरस आयास से बृहस्पति तीनों गुणों से उतर करके ओंकार की उपासना प्राण की उपासना की इसलिए नए विचार में वो उद्गाता बन गया ऐसी कहानी आएगी आगे किंतु ये वृत्तिकार का मत है ये स्वतंत्र है अंगिरा जिसी ने उपासना की अर्थ आ जाएगा ये बोलना चाह रहे हैं तम अंगिरा अंगिरा ऋषि में तम मुख्यम प्राणम अंगिरा ह अंगिरा इतम गुणम अंगिरा गुण वाला अंगिरस गुण वाला जो है उदगीतम उपासना चक्र उदगी से उपासना की उपासना कृतवान माने बको तालभ्य इति संबंध आदि चतुर्थ मंत्र में आएगा वो बको तालभ्य करके आएगा ये दसम मंत्र चल रहा है त्रयोदश मंत्र में आएगा वो बको तालभ्य उससे संबंध होता है करके वृत्तिकार भरत प्रपंजादि का कहना है अपना मत नहीं है तथा बृहस्पति आयास्य अगले मंत्र में बृहस्पति नाम आएगा बृहस्पति गुण विशिष्ट उपासना किया आएगा फिर आयास गुण विशिष्ट उपासना किया आएगा ऐसा यहाँ यदि उपासन चक्रे उपासन चक्रे बक इतव संबंधन करता बक के साथ संबंध हो गए बक दाल के साथ संबंध हो इति केचित ऐसा कुछ लोग मानते हैं इसके उपासक माने कर्ता जो होगा बक होगा दाल में होगा ऐसा कुछ लोग मानते हैं किंतु अंगिरा ऋषि नहीं मानते हैं बृहस्पति ऋषि को नहीं मानते हैं हाँ और आयास ऋषि को नहीं मानते हैं किंतु ऋषि का नाम लेने पर भी कोई हर्ज नहीं ऐसा मुख्य अपने तर्क देना चाहते हैं भवतु एवं यथाश्रुत असंभव है जैसे सुनाई पड़े यहां अंगिरा प्रथमांत दिया हुआ है उपासन चक्रे अंगिरा उपासन चक्रे तो अंगिरा ने उपासना की है यथाश्रुत अर्थ यदि नहीं आता तब तो बक्का तालवे में ले जाके अन्वय करते किंतु यथाश्रुत अर्थ घट रहा है यहाँ अंगिरा प्रथमांत है और उपासना चक्र क्रिया है अंगिरा ने उपासना की जाने में क्या आपत्ति है जैसे श्रुति में कहा वैसा अर्थ ना आए तब खिंचा खतानी करके कहीं ले जाना होता फिर अंतिम बको डालव्या आएगा वो उपासक वो है समझ लेते किंतु ऐसे वृत्तिकार के मत ठीक नहीं है ये उपासना करने वाला बकदाल भी नहीं उसने भी किया होगा किंतु अंगिरानी भी की है ऐसा अर्थ लेना है भगवत एवं यथाश्रुत असंभव है जैसे वृत्तिकार के मत है ये मत तभी हो सकता है यथाश्रुत अर्थ असंभव होने पर या अंगिरा प्रथमांत है उपासना चक्र क्रिया है तो अंगिरा ने उपासना की करने में आपत्ति नहीं है संभवित्यु हाँ, यथाश्रुत संभव संभव होने पर तो संभवती सप्तमंत है संभवित्यु संभवती तू संभव होने पर तो यथाश्रुत अर्थ यदि घटता हो तो यथाश्रुतम संभव तो ऋषि चोदनायाम अभी ऋषि के द्वारा उपासना करने में भी घटेगा अन्य श्रुति में कहा ऐतरे श्रुति में ऐतरे आरण्य में ऐसी बातें आई है मैंने ऋषि में भी घटता हो और प्राण में भी घटता हो ऐसा शब्द दिखाया हुआ है तो यहां भी ऋषि और प्राण दोनों भी घटाएंगे मैंने गुण भी बताएंगे ऋषि भी बताएंगे अंगिरा शब्द की आवृत्ति करके अंगिरा ने अंगिरस गुण विशिष्ट प्राण की उपासना की ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं जैसे ऐतरे की बात आती है कहते हैं श्रुत्यंतर ऐतरे ऐतरे में आरण्यक में है सब बातें कैसा तो ऐतरण तो में कहते हैं तस्मात छतर्ति में इतिहास आचक्षते एतम एवं संतम ऋषि तभी ऐसा ये ऋषि होते हुए भी सतर्षी कहे जाते हैं ऐसा आया वहां ऐतरण्य में आया है सतर्जी माने जाते हैं सतर्जी सूर्य का नाम होता है वैसे किंतु ऋषि होते हुए भी सतर्जी कहा जाता जो गुण वहां है वही गुण यहाँ है वही गुण विशिष्ट उपासना करने से तद्रूप माने गए इसलिए सत्तर जी कहे जाते हैं ऐसा बोलना चाहते हैं तथा माध्यमा गृत्समदो विश्वामित्रो वामदेवो अत्रि इत्यादि ऋषि एवं प्राणम आपादयती वहां माध्यम में चलने वाले जो गृहसमद ऋषि हैं विश्वामित्र ऋषि हैं वामदेव ऋषि हैं अत्रि ऋषि आदि भी ये ऋषि को ही प्राण भाव को प्राप्त कराते हैं वहां ऋषि हैं किंतु प्राणोपासक थे प्राण रूप में कहा जाता है वहां ऐतरे वैसे यहां भी ये जो अंगीरा आदि ऋषि प्राण भाव में है इसलिए अंगिरा शब्द का अर्थ अंगिरा भी लिया जा सकता है ये कहना चाहते हैं तथैव तथा एतान अभी ऋषि यहां जो आए हुए ऋषि हैं यहाँ अंगिरा नाम आएगा आगे बृहस्पति आएगा आगे आयास नाम के ऋषि आएंगे तीन नाम आएंगे उसके बाद बपोटाल भी आएगा जैसे वहां पर माना गया माने प्राण भाव की प्राण की उपासना कर रहे थे ऋषि लोग सतर्जी आदि ऋषि तो उनका नाम भी सतर्जी से प्राण का नाम से उनका नाम मिल गया इसी प्रकार यहां भी तथा एता न ऋषि इन ऋषियों को भी प्राणोपासका जो प्राण के उपासक हैं ये भी यहां जो अंगिरा है बृहस्पति है आयास्य है इन ऋषियों का भी प्राणोपासका अंगिरा अंगिरस शब्द होता है इसलिए अंगिरा बोला अंगिरा बृहस्पति आयास्यान इन ऋषियों को प्राणम करोति अभेद विज्ञान आया ये प्राण श्रुति ये करती है प्राण ही बनाती है उसको अभेद विज्ञान के लिए क्योंकि उसकी उपासना करने से प्राण रूप में है वो लोग प्राण रूप में कहना चाहती है इसलिए अंगिरा शब्द का ऋषि है ये कहना क्योंकि सप्तम अध्याय में इसी छांदव में कहें हो पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राण शोषा इत्यादि आएगा सब कुछ जो कुछ है प्राण है जब तक प्राण है पिता तब तक बोलते हैं हाँ। पितृत्व तब तक दिखाई पड़ता है तब तक उनका सम्मान होगा प्राण निकल जाता है तो ले जाकर के जलाने का काम करेंगे तुरंत समाप्त करो इसको अब जलाने पर भी पाप नहीं लगता हाँ, पहले थोड़ा तिरस्कृत वचन बोलने से भी पाप लगता था पिता के लिए वही पिता आज जिसको पिता बोल रहा था अब प्राण निकलने पर ले जाके जलाते हैं इतने बड़े आग लगाने से पाप नहीं लगता क्या नहीं क्यों प्राण था पिता ये पिता नहीं था शरीर पिता नहीं था इसी प्रकार प्राणो माता प्राण पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राण सखा ऐसा आया है सप्तम अध्याय में आएगा इसे सब कुछ प्राण ही है प्राण न होने पर कुछ नहीं है इसके मतलब जो भी हम सम्मान करते थे पितृ आदि शब्दों के द्वारा प्राण के लिए करते थे उसके बाद तो ले जाए खटरी में डाल दे फेंकने के काम करते हैं कोई इसको पितृ हत्यारा नहीं मानते उस काल में पहले थोड़ा सा तिरस्कृत वचन बोलने पर भी ये पितृ हत्यारा ही बोलते थे प्राण जब तक था प्राण निकलने के बाद में जला रहा है वही लड़का मुखाग्नि दे रहा है किंतु कोई पितृ हत्यारा नहीं बोलता इसका मतलब पिता ये नहीं ये शरीर पिता नहीं था पिता प्राण था ऐसा सिद्ध करेंगे आगे एक सर्व सर्वूर बताएंगे प्राण का प्राणो है पिता प्राणो माता इत्यादि बच्चे इत्यादि जैसे कहा वहां सर्वरूप बताया प्राण का इसलिए यहां भी प्राण सर्वरूप है यहाँ अंगिरा भी हो सकता है आयास्य भी हो सकता है हाँ, और बृहस्पति भी हो सकता है सब कुछ हो सकता है इत्यादि का तस्मात ऋषि अंगिरा नाम प्राण एव सन जो अंगिरा नाम भी ऋषि है यहाँ मैंने बको ताल में उपासना की या नहीं समझना या अंगिरा ऋषि ने उपासना की समझना तस्मात ऋषि अंगिरा नाम प्राण एवसन अंगिरा नाम के ऋषि है प्राण भाव प्राण की उपासना करते करते प्राण रूप में ही है तदरूप में है वो प्राण रूप में हो रखे हैं मनोभावना उनकी प्राण में यद्यपि तो शरीर पिंड का है किंतु मनोभाव प्राण में है प्राण भाव प्राण रूप होने से आत्मानम अंगिरसम प्राणम उदगितम उपासन जगड़े कहते हैं तो उन्होंने क्या किया अपने स्वरूप की उपासना की प्राण की अपने प्राण की अंगिरस प्राण जो अंगिरस गुण विशिष्ट प्राण की उपासना की अंगिरा किसी उपासक भी अंगिरा है और प्राण भी अंगिरा है ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं कहा यद का अर्थ यशमाद है यद रस है ना अंगाना भी रस शरीरों का सार है अं, वो अंगिरस है प्राण वो भी अंगिरा है अंगिरस है यद का अर्थ यशमात कारणार्थ सो अंगानाम प्राण स प्राण अंगानाम संतस प्राण होता हुआ अंगों का सार है वो तेरह असो आंगिरस अंगों का सार होने से उसको आंगिरस कहा जाता है प्राण को ये बताया ठीक है कहते हैं तत्र वृत्तिकाराभिप्रेतम संबंधम दी ये जो तम अंगिरा विलिखितम उपासन चंद्र इत्यादि का संबंध बको दालव्य के साथ में है वृत्तिकार ऐसा मानते हैं माने वहां त्रयोदश मंत्र में आया उसका ये जो उपासन चक्र का करता होगा बका दाल्य ये वृत्तिकार का बात है भक्त प्रपंच उपवर्ष आदि जो शंकराचार्य जी से पहले भी उन्होंने कुछ लेख लिखा था उपनिषद के ऊपर वो ज्ञान कर्म समुच्चय आदि थे तो उनके मत दिखाते हैं ये कहा तत्र वृत्तिकारा अभिप्रेतम संबंधम भी वृत्तिकार भरती प्रपंच है उपवर्ष है उनके जो संबंध है उनके इष्ट संबंध उसको दिखाते हैं तम मुख्यम वो ये बोलते हैं तम ह हाँ, अंगिरा स्तम मुख्यम प्राणम ह हाँ, अंगिरा अंगिरा नाम का जो मुख्य प्राण है उसको इतम गुणम ऐसा गुण वाला अंगिरा गुण वाला प्राण को उद्गीत हम उपासना चक्रे ऐसे प्राण दृष्टि से उद्गीत उपासना की किसने की उपासना तो कहते हैं आगे बको दालव्य संबंध होगा त्रयोदश तो मंत्र में आएगा उसके साथ इसका उपासक वो बनेगा ये कहना चाहते हैं वृत्तिकार का कहना है पराभिप्रेत संबंधे गमगम आह वृत्तिकार के इष्ट संबंध है माने उपासना करने वाला करता बको डाल भी है करके बोलना चाहते हैं उसमें लिंग दिखाते हैं गमक दिखाते हैं लिंग दिखाते हैं क्या दिखाते हैं एतम इत्यादि कहा एतम एव अंगिरसम बृहस्पति आयासम प्राणम मन्यंते वचनात् ऐसा वचन आएगा मन्यंते एक पद है सब में तो इसी को ही आंगिरस कहते हैं बृहस्पति कहते हैं आयास से कहते हैं मानी ये तीनों गुण है ये ऐसा मन्यंते ऐसा मानते हैं ऐसे वचन है तो वो बगो डाल में इसका करता होगा ऐसे उनकी मान्यता है किंतु ये मत ठीक नहीं कहना चाहते सिद्धांत की ओर से और सिद्धांत की भाषा अब लिखते हैं आगे ठीक है हमें देखें अव्यवहित संबंध सम्भवे व्यवहित संबंध कल्पना न युक्ता यदि अव्यवहित यहीं पर संबंध मिल जाए क्रिया के साथ करता था तो आगे जाकर के करता भूमि की संबंध करना ठीक कल्पना करना ठीक नहीं क्योंकि बकोतालवे के साथ लेने के लिए उपासन चक्र इधर है पे उधर व्यवधान है दो तीन मंत्रों का व्यवधान है इतने वाक्यों का व्यवधान पड़ेगा तो अव्यवहित संबंध यदि संभव न होता तब तो व्यवहित संबंध ले लेते हैं व्यवधान युक्त लेते हैं किंतु अव्यवहित संबंध हो सकता है ऐसे भाष्यकार बोलते हैं अव्यवहित संबंध संभव है संभव होने पर व्यवहित संबंध कल्पना नहीं होता व्यवधान युक्त संबंध कल्पना करना ठीक नहीं इन्होंने जो संबंध की कल्पना की व्यवधान है वृत्तिकार ने जो कल्पना की यदि परिहरती ये खंडन करते हैं ये मत ठीक नहीं कहना चाहते हैं तो कहा भवतु सिद्धांत भाष्य आरंभ करते हैं भवतु एवं यथाश्रुत असंभव जैसा सुनाई पड़ रहा है अंगिरा अंगिरा को ऋषि मानने में अगर असंभव होता तब तो कल्पना करना ठीक था किंतु संभवती तू संभव होने पर तो अव्यवहित संबंधित संभव होता तो होने पर तो यथाश्रुतम ऋषि चोदनायाम अपनी सूर्य अंतर्गत ऋषि का कथन में भी कोई आपत्ति नहीं है जैसे ऐतरी में कहा हुआ है प्राण आदि शब्दों के द्वारा ऋषियों का नाम लिया हुआ है ये बोलना चाहते हैं ठीक है ऋषिराम अंगिरो बृहस्पति आदि शब्द उपदेश ऋषियों का उपदेश है अंगिरा शब्द बृहस्पति शब्द आयास्य शब्द के द्वारा उपदेश तीन मंत्रों में है यहाँ होने पर भी गुणत्रय विशिष्ट प्राण उपासन में ऋषि लेने पर भी ये यहाँ अंगिरा शब्द से अंगिरा ऋषि लेना आगे बृहस्पति शब्द से बृहस्पति ऋषि लेना आयस शब्द से आयस ऋषि लेने पर भी तीन गुण विशिष्ट उपासना करने में कोई आपत्ति नहीं होगी अंगिरस गुण बृहस्पति गुण आयस गुण विशिष्ट उपासना करने में कोई आपत्ति नहीं होगी ऋषि का नाम लेने पर भी वो गुण भी बनेगा वो ऋषि का नाम भी होगा गुण भी होगा कोई आपत्ति नहीं यही कहते हैं ऋषिणाम अंगिरा बृहस्पति बृहस्पत्यादि शब्द उपदेश भी उपदेश करने पर भी गुणत्रय विशिष्ट प्राणोपासन मंत्र तीनों गुणों से विशिष्ट जो अंगिरस अंगिरस है अंगिरस और बृहस्पति और आयस है ये तीनों गुणों से विशिष्ट प्राण की उपासना में विरुद्ध नहीं होता ततश्च प्रधानानाम नाम अबाधे मुख्य है या अंगिरा आदि ऋषि का नाम है तो प्रधान जो ऋषि का नाम है बाद न होने पर प्राणोपासका नाम ऋषि नाम उपदेशो न त्याग हटती प्राणोपासक ऋषियों का नाम यहाँ त्याग करना ठीक नहीं है अंगिरा आदि के नाम को त्याग करके आगे बकोताल में के साथ में संबंध करना ठीक नहीं है ये कहा अंगिरो बृहस्पति इत्यादि शब्द व्योपी इन शब्दों के द्वारा भी प्रथम प्रतिबंधा निशन बिहार या अंगिरा शब्द से ऋषि दिख रहा है और बोलते कि ये गुण की विधान है खाली उपासक कौन है बकोताल इसको त्यागना माने अंगिर बृहस्पति के शब्द से प्रथम प्रतिपन्न जो ऋषि का नाम है उनको ऋषि बिहार ऋषि को छोड़कर यौगिक प्रवृत्ति प्रतिपत्तव्य गुणमात्र प्रतिपत्ति अनुपत्ति यौगिक वृत्ति को लेना गुणमात्र को समझना मानना ये ठीक नहीं होता ये कहा प्राणोपासका नाम ऋषि नाम अभिधानम ऐतरेक स्तृतिया दृढ़ प्राणोपासक जो ऋषि हैं उनको उसी नाम से कहा है जिस गुण के द्वारा विधान करते हैं उपासना का उसी रूप से ऋषि का नाम भी कहा ऐतरी श्रुति में है जिस नाम से गुण का विधान करेंगे उसी नाम ऋषि का भी है ऐसा ऐतरिक श्रुति से दृढ़ करते हैं कहा प्राणोपासकान ऋषि नाम जो प्राणोपासका नाम ऋषि प्राणोपासक जो ऋषि लोग हैं उनका अभिधानम कथम ऐतरिक श्रुतिया श्रुतिया दृढ़ ऐतरिक श्रुति को दृढ़ करते हैं श्रुत्यंतर्वत ऐसे होती है ऐतरिक श्रुति में ऐसे शब्द आते हैं कहा तदेव पश्चिम स्पष्ट है ऐतरिक स्थिति के ही बातें को स्पष्ट करते हैं कहा तस्मात सतर्क ने आतर्क तो ऋषि को सतर्ची कहा जाता है कहा सतर्जी गुण सतर्जी प्राण का गुण है सतर्जी गुण विशिष्ट प्राण की उपासना करने से ऋषि भी सतर्जी ऐसा एतम एवं संतम है प्राण है वो प्राण होते हुए ऋषि कह देते हैं कहा कैसे होगा ठीक है सतर्चिनो नाम प्रथम मंडल दृश्य विषय प्रथम मंडल सूर्य मंडल के जो बाहर का घेरा होगा प्रथम मंडल होगा उसको देखने वाला ऋषि को सतर्ची कहा जाता है सतर्ची ऋषि का नाम है ये सच सतर्ची शब्दवाच्यम बदंती हाँ। ये सच प्राणो और यही सतर्ची प्राण है ऋषि का नाम भी सतर्ची है प्राण का नाम भी सतर्ची को प्राण को सतर्ची क्यों कहते हैं हाँ। यस्मात पुरुषम संघात आख्यम जिससे संघात है पुरुष माने शरीर इंद्रिय समुदाय इसको शतवर्षाणी अवगतमान इस प्राण ने सौ साल पहुंचाया इसको इसलिए सतर्ची है प्राण सतर्ची कहते हैं प्राण को ये कहा सतर्ची प्राण का नाम भी है ऋषि का नाम भी सतर्ची है प्राण का नाम भी सतर्ची है वैसे यहां भी अंगिरा ऋषि का नाम भी ले लो और प्राण का नाम भी अंगिरा ले लो क्या आपत्ति है ये कहना चाहते हैं ये कह रहे हैं सतर्ची नामो प्रथम मंडल दृष्ट विषय सूर्य के मंडल घेरा होता है उसमें प्रथम मंडल को देखने वाले जो ऋषि लोग हैं उनको सतर्ची कहा जाता है वेद में और ये सत प्राण और ये जो प्राण है मुख्य प्राण ये भी यस्मात पुरुषम संघाताख्यम जो पुरुष माने समुदाय इंद्रिय शरीर समुदाय पूरे को शतवर्षाणी अभिगतवान इसने सौ साल पहुंचाया है इसको प्राण प्राण निकल जाता तो पहले समाप्त हो जाता सौ साल पहुंचाता है इसलिए तस्मात एतम एवं प्राणम संतम इस प्राण होता हुआ क्या ऋषि शरीर से तब अभी ऋषि के शरीर में बैठा हुआ प्राण है वो होने पर भी सतर्क शब्द वाच्य हम बनाती उसको भी सतर्ची कहते हैं ऋषि को सौ साल पहुंचाने वाला होने ऐसे गुण होने से सतर्ची नाम से कहा गया वैसे सतर्ची नाम ऋषि का नाम है ऋषि को भी सतर्जी बोलते हैं प्राण को भी सतर्जी बोलते हैं इसी प्रकार यहां भी अंगिरा शब्द आया है तो प्राण को भी ले लो और ऋषि को भी ले लो क्या आपत्ति है ये कहना चाहते हैं अगर सतर्जी शब्दवत उभय विषयाणी शब्दांतराणी में शक्ति जैसे सतर्क शब्द दो को विषय कर रहा है ऋषि को भी प्राण को भी इसी प्रकार और भी शब्द ऐसे मिलते हैं दोनों को विषय करने वाले ऋषि को भी प्राण को भी कैसे मिलते हैं तो कहा तथा इत्यादि भाषण का तथा माध्यमा जो मध्यम को देखने वाले ऋषि लोग होंगे माध्यमा माध्यम ऋषि है मध्यम घेरे को देखने वाले को माध्यम करते हैं कौन है वो गृत मदा विश्वामित्र वामदेव अत्रि इत्यादि नाम है ऋषियों का माध्यम ऋषि है वो तो वहां भी प्राण का नाम भी होगा ये और ऋषि का नाम भी होगा गृह मदा आदि प्राण में भी घटता है ऋषि तो है ही है नाम ऋषि का नाम तो होता ही है प्राण का नाम गुण गुण घटित करके प्राण में भी घटेगा जैसे सतर्जी होता प्राण में घटाने के लिए क्या किया सौ साल इनको चलाता है इसलिए सतर्जी कहा जाता प्राण इसी प्रकार माने ये अन्य शब्द भी हैं कहा अच्छा तो आद्यंते मंडले मूर्तवा आदि मंडल और अंतिम मंडल जो सूर्य के मंडल होंगे वो दोनों को छोड़ करके मध्यमानाम मंडलानम दृष्टारम बीच के मंडल को देखने वाले जो ऋषि लोग होंगे उनको मध्यमा कहा जाता है ऋषि को मध्यमा मध्यमा बोला ऋषय मध्यमा ऋषय तेपी तेपी प्राण वो भी प्राण रूपी है वो माध्यम ऋषि की कैसे तस्य स्वात्मनि मध्य सर्वजगत विधारकत्वा कहते वो जो प्राण क्या करता है अपने में ही संपूर्ण जगत को धारण करता है प्राण है तो जगत है प्राण नहीं तो जगत है और ग्रीसमत कैसे हैं तो कहते ग्रीष्मद अस्तु द्वितीय मंगलदर्शी है वो स्वाप काले बाघादि नाम गिरनाथ प्राण ग्रीष्म प्राण को ग्रीस कहा जाता है क्यों सुसुप्ति अवस्था में बाघादि इंद्रियों को निगल जाता है इसलिए ग्रीष्म नाम है उसका प्राण का गृह मनस्तु द्वितीय मंडल दर्शी ऋषि भी है प्राण भी है स्वाप काले बाघादि नाम गिरणार बाघादि को निगलने से निगरने निगल जाता है गिरणा प्राणो कृत्सो प्राण को ग्रीत्स बोला जाता है और दूसरी बात मद क्यों है कहते रेतो विसर्ग कारण मद हेतु प्राण के माध्यम से ही रेत का विसर्जन होता है उसमें मद घमंड करता है इसलिए अपानो मद गृत हो जाएगा प्राण और अपान हो जाएगा मद क्योंकि भेद विसर्जन करने का काम अपान करता है मद है वो प्राण प्राण अपानात्मकत्वाद प्राण जो है अपान रूप है अपान से अभेद है इसलिए प्राणों भी तथा उच्चते गृह कहा जाएगा गृह भी है ऋषि का नाम भी है और ये भी है प्राण भी है दोनों में घटता है वैसे यहां भी अंगिरा शब्द आ गया है तो प्राण और ऋषि में दोनों में लेने में क्या आपत्ति है वो कह रहे अंगिरा तो गुणी है और आगे उपासक होगा बबो दाल में करके ये वृत्तिकार करने वो ठीक नहीं और भी है तृतीय मंडलदर्शी विश्वामित्र तृतीय मंडल को देखने वाले विश्वामित्र ऋषि होते हैं प्राणों भी तथा प्राण को भी विश्वामित्र कहा जाता है जब गौण प्रयोग होता है कैसा कुछ गुण है विश्वामित्र बनने के लिए प्राण को क्या गुण है कहा तस् चाहिए मैं तस्य प्राण से उस प्राण में विश्वम भोज्य जातम जो विश्व सारे के सारे खा, खाद्य वर्ग है भोज्य वर्ग है स्थिति हेतु तैयार भोग्य वर्ग की स्थिति प्राणी है प्राणी खाता है और कौन खाएगा सारे विश्व को स्थिति का कारण है भोज्य जातम स्थिति हेतु है स्निग्धम आशीत तो विश्व शब्द का अर्थ स्निग्ध है वो सब स्निग्धम आशीत सबके भोग्य वर्ग स्थिति होने से विश्व का अर्थ हो गया निस्निग्ध कोमल और बामदेव वस्तु चतुर्थ मंडल दृष्टा बामदेव चतुर्थ मंडल दृष्टा है ऋषि है वो प्राणोपित शब्द वाच्य है शब्द का वाच्य प्राण भी होता है जैसे होता है वामस्य अश्वदेव से बामदेव कर्मदारी समास होगा तो उसमें कहना चाहते हैं तस्य मन प्राणस्य बाघादि देवता संबंधित बाघादि देवताओं के लिए संवरणीय है भजनीय है प्राण प्राण नहीं तो बाघा आदि कुछ नहीं कर सकते संबंध नहीं है इसलिए पंचम मंडल दृष्टा अत्रि उच्चते पंचम दृष्टा को अत्रि नाम कहा जाता है प्राणों भी अत्रि प्राणों तथा मैंने अत्रि है कैसे तथे कहते थे प्राणों भी अत्रि रूप से कहा जाता है तस् पापनो अनर्थ रूपान प्रति सर्वत्र अतृत्वाद पापों को खा जाता है जो अनर्थ को सबको खा जाता है प्राण इसलिए वो भी अत्रि शब्द से कहा जाएगा आदि पदेगा और भी है मंत्र में वहां भाष्य में आदि दिया है वामदेवो अत्रि इत्यादि ऐसा दिया आदि पदेना भरद्वाजादि पदानी गृहतानी भारद्वाजादि पद किसी प्राण को कहा जाता है जगह जगह ऋषि का नाम भारद्वाज तो ही है प्राण को भी कहा जाता है में एवं व्याख्या है दृष्टांत का ये तो दृष्टांत दिया जैसे वहां ऐतरे में है उसी प्रकार यहाँ भी अदृष्ट सिद्धांत में बताना चाहते उस प्रकार अंगीरा शब्द आया तो प्राण गुण ही क्यों लेना ऋषि को क्यों नहीं लिया ऋषि भी है गुण भी है दोनों में घटा जैसे वहां दोनों में घटता है ऐतरिक ऐसे सिद्धांत बोल रहे सिद्धांत में कहते हैं तथा इत्यादि का आवास में तथा एतान अपनी ऋषि ये जो ऋषि है अंगिरा है बृहस्पति है आयास्य है जो ऋषि का नाम आएगा मंत्र में आ रहा है ये ऋषियों का भी प्राण उपासक प्राण उपासक सब ये ऋषियां अंगिरो बृहस्पति आयाश्याम जो तीनों ऋषि प्राणम करोती अवैध विज्ञान आया अवैध करने के लिए प्राण जो है उसको अवैध करने के लिए मैंने उपासना करते करते वैसे हो जाते हैं वो इसके लिए गुण गुण का विधान भी है ऋषि का नाम भी है दोनों लिया जाएगा ठीक है किमिति अंगिरा प्रविधन प्राण करोती अंगिरा ऋषि आदि को प्राण रूप कैसे करता है श्रुति कैसे करती श्रुति अतः अभेद विज्ञान आया अभेद विज्ञान के ऋषि और वो जो गुण है उसमें भेद नहीं दिखाना अभेद विज्ञान के प्राण और ऋषि एक ही हो जाते हैं ये दिखाना है तथा तो सप्तमे सप्तम अध्याय में बताएंगे इस बात को प्राणी सब कुछ है सप्तम प्राण से सर्वात्म थे सप्तम अध्याय में दिखाई पड़ेगा प्राण की सर्वात्म भाव ऋषि भी प्राणी है ये दिखाएंगे रक्षते तथा अत्रापि यहां भी वैसे समझना तत्त ऋषि रूपत्व विवक्षिता प्राण ही बृहस्पति आया से अंगिरा आदि ऋषि रूप से विवक्षित है प्राणो इत्यादि एक प्राणोह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राण ससा इत्यादि वहां सप्तम अध्याय जाएंगे जो कुछ है प्राण ही है अव्यवहित तो संबंध संबंध फलितम वाक्यार्थ करे जब यहीं पर संबंध दिख रहा अंगिरा उपासन चक्रे दिख रहा है तो बको तालवे में ले जाने की आवश्यकता है यहां अगर कोई करता नहीं दिखता तब तो करता वहां आगे जाकर के वहां जो बबूताल को उपासना चक्र करता भूल लेते व्यवहित संबंध दिखाते किंतु अब संबंध संबंध है तो व्यवहित करना ठीक नहीं है वृत्ति का आदमी व्यवधान कर दिया ये उपासना चक्र का करता बकोदाल भी बोल रहे हैं वो ठीक नहीं अव्यवहित संबंध संभव है या व्यवधान रहित संबंध होने पर फलितम वाक्यार्थम वाक्यार्थ के निकले वो हैं तस्मात इत्यादि कहा तस्मात ऋषि अंगिरा नाम प्राण जो अंगिराणाम ऋषि है प्राणी है प्राण सन आत्मान अंगिरसम प्राणम उदगितम पा सकते अपना ही जो स्वरूप है अंगिरस प्राण उसकी उपासना की कहा प्राण से अंगिरसत्म व्युत्पादय थी प्राण आंगिरस है क्यों आंगिरस है प्राण आंगिरस गुण के विधान करके आंगिरस प्राण क्यों हुआ तब कहा यस्मात स्व अंगान स्व प्राण अंगाना सन प्राण सन वो प्राण प्राण होता हुआ अंगा नाम रस अंगों का सार है वो ये नहीं तो कुछ नहीं है यावत वायु निवसत देहे तावत तावत कुशलम पृछति गिरे गतवती वायु देहा पाए भार्या विपत्ति तस्मिन का है चटपट पंजर का भी कहा है जब तक प्राण है यावत वायु देव बस निवसत है जब तक वायु इसमें बैठा हुआ है वार्ता कुशलम पृछति ये तावत पृछति कुशलम के तब तक कुशलता पूछते हैं लोग जब तक प्राण बैठा है गदवती वायु देहा पाए देह को छोड़कर जब वायु चला जाता है तो भारिया विभ्यति तस्मिन का ये पत्नी भी डरती है फिर उसके साथ कोई शरीर के साथ वायु की ऐसी महिमा है यहाँ प्राण वायु की प्राण नहीं तो कुछ नहीं ऐसा है ते कहा तथा तो सप्तमे प्राण से सर्वात्म थे सप्तम मध्य में प्राण को सर्वात्म भाव के कथन करेगी स्मृति तथा अत्रा भी यहां भी तस् तत्त ऋषि विपक्षम विपक्षित तत्त ऋषि तो प्राण है ऐसा होगा प्राण हो इत्यादि कहा आगे अव्यवहित संबंध संबंधी फलितम वाक्य कहा तस्माद भाष्य कहा था तस्मात ऋषि अंगिरा नाम प्राण एवं अंगिरा नाम ऋषि प्राण रूप होते हुए हम्म, आत्मान अंगिरसम अंगिरसम प्राणम उदीतम उपासना चक्र कहा ऋषि ने उपासना की अंगिरा ऋषि ने उपासना की ठीक है प्राण से अंगिरसत्व विपाड़ेगी प्राण अंगिरस है क्यों तो उसके स्पष्टीकरण करते हैं यस्मात स्व अंगानम प्राणसम रस वो प्राण जो है अंगों का सार है इस शरीर का सार है तेना असौ अंगिरस अंगों का सार होने से इसको अंगिरस कहा गया ऐसा कहा गया आगे मंत्र है बृहस्पति मन हाँ। तेन तम बृहस्पति उदीत उपासन चक्रे एतम एव बृहस्पति मनते बाघ्री बृहती तस्या पति एक तम बृहस्पति मुदीतम उपासन चक्रे एतमु एव बृहस्पति मनते बाघी बृहती तस्याश पति तेन तम आयाश्य उदीतम उपासन चक्रे एतमु एव आयाश्यम मनते आश्याद अयते तेन तम आयास्य उद्गीतम उपासन चक्रे एतम आयास्यम मनते आयते टीका में कहते तंत्र में तेन इसी कारण से अंगिरा नाम की ऋषि ने उपासना की है इसी कारण से तम उसी मुख्य प्राण को जो मुख्य प्राण है उसी की प्राण दृष्टि से बृहस्पति रूप से उपासना की बृहस्पति गुण करके बृहस्पति ने भी उसकी उपासना की और बृहस्पति गुण डाल करके बृहस्पति गुण का आधान करके बृहस्पति ऋषि ने भी उपासना की मुख्य प्राण संबंधी उद्गित की कहा उपासना की तो बृहस्पति क्या है कहते हैं एतम तम बृहस्पति मान इसी मुख्य प्राण को ही बृहस्पति मानते हैं वैदिक लोग जो वेद के मर्मज्ञ हैं वो लोग इसको बृहस्पति कहते हैं किसको मुख्य प्राण को क्यों तो कहते हैं बाघ ही बृहति बाघ का नाम बृहति है वाणी का नाम तेसाम ये सब पति पानी के पति है इसलिए बृहस्पति है वो मुख्य प्राण रहे तो बोल पाएगा नहीं तो बोल नहीं सकता ये बृहस्पति है बाघी बृहति बाणी बृहति है तस्या उस बृहति का ये पति है क्योंकि प्राण नहीं है बाणी बोल नहीं सकती है प्राण के अधीन है वाणी इसलिए उसके पति है स्वामी है इसी प्रकार तेरह तम आयास्य उदगित उपासना इसी प्रकार आयास्य नाम के ऋषि ने आयास्य गुण को डाल करके विधान गुण का सम करके उस प्राण दृष्टि से उदगित की उपासना की ऋषि का नाम भी आयास्य है प्राण का नाम भी आयास्य है सह एतम एवं आयास्य मनते तो इसी प्राण को ही एतम मन इस प्राण को ही आयास्य करके मानते हैं वैदिक लोग वेद के मर्म के जाने लोग इसको आयास्य कहते हैं क्यों आयास्य बोलते हैं ये आश्य से निकल जाता है अंतिम समय में यहीं से निकल जाता है आयस्य मन मुख होता है यहां से निकल जाता है इसलिए आयास्य कहते हैं इसको कहा आश्याद यद अयते आश्य से जो निकल जाता है आश्य मन मुख मुख से जो निकल जाता है इसलिए इसका नाम आयास्य पड़ा है मुख्य प्राण का नाम आयास्य गुण है इसमें ये कहा टीका में कहते हैं अंगिरा शब्द बृहस्पति शब्दों की उभयत्र अंगिरा शब्द जैसे प्राण में भी है और इसमें अंगिरा ऋषि में भी प्रयोग होता है अंगिरा ऋषि ने अंगिरस गुण विशिष्ट प्राण की उपासना की जाता आया उसी प्रकार बृहस्पति शब्द भी दोनों में है बृहस्पति ऋषि का नाम भी है और प्राण का नाम भी है प्राण को भी बृहस्पति कहते हैं क्योंकि बाघ बृहति है उसके पति है बृहस्पति है घट जाता है ये कहा तथा इत्यादि भाषण का तथा बाचो बृहत्या पति बृहस्पति का इसी प्रकार वो वाणी के वाणी मानी बृहति उसके जो पति है बृहत्या पति बृहति के पति होने तेन असुर बृहस्पति इसलिए बृहस्पति नाम मिल गया इसको तथा यद यस्मात आश्यात आयते जिससे कि उसी प्रकार दूसरे मंत्र के अर्थ करना चाहते हैं जिससे कि यद माने यस्मात यद आश्यात है ना यद का अर्थ यस्मात हाँ, आश्यात आयते मुख से निर्गत क्षति मुख से निकल जाता है अंतिम समय में प्राण मुख से निकलता है निर्गछति तेन आयास्य ऋषि प्राण एवसन इत्यर्थ लगाते ना आयास्य आयास्य ऋषि भी है प्राण होते हुए ऋषि आयास्य है अभिन्न है तथा तो अन्यों की उपासक है इस प्रकार कोई और भी उपासक होगा यही ऋषि योग ये ऐसे नहीं होते प्राण रूप नहीं होते और भी कोई प्राण उपासक होगा प्राण रूप हो जाएगा बोलते हैं तथा अन्य उपासक आत्मान आंगिरसादि गुणम प्राणम उदितम उपासित अन्य भी अपने ही उपासना करेगा स्वयं की जो प्राण से अभिन्न है उपासना आत्मा एवं आंगिरस आदि गुण विशिष्ट जो स्वयं को उपासना करे ऐसा कहा ठीक है कहते हैं प्राण से बृहस्पति तुम साधे थी प्राण बृहस्पति कैसे है बाघी बृहति तस्या ये सपति यही कहा है वाणी बृहति है उसके पति है क्योंकि इसके बिना वाणी के कुछ चलना नहीं मुख्य प्राण के बिना प्राण निकले तो प्राणी क्या करेगी बोल नहीं सकती अंगिर बृहस्पति शब्द शब्दवत आयास्य शब्द भी उभयत्र द्रष्टव्य जैसे अंगिरा शब्द दोनों में प्रयोग है बृहस्पति शब्द प्राण में और ऋषि में दोनों में प्रयोग है इसी प्रकार इसी प्रकार आयास्य शब्द भी दोनों में प्रयोग होता है ऋषि में भी प्राण में दोनों में प्रयोग होता है तथा इत्यादि भाषा में कहा था तथा यद यस्मात आया आश्यात आयते निर्गछति तेना आयाश्य मुख से निकल जाता है अंतिम समय में इसलिए इसका नाम आयाश्य है नाम भी आयस्य है प्राण भी मुख से निकलता है अंतिम समय में इसलिए आयस्य नाम पड़ता है कहा ठीक है तस्य उभयत्र वृत्ति विषय यदि दोनों में वृत्ति है ऋषि में भी और प्राण में भी ये दिखाना चाहते हैं यदि अस्मात इत्यादि कहा था आगे यस्मात आश्यात अयते जिससे कि आश्य से निकल जाता है अयते गच्छति निकलता है तेन आयाश्य प्राण इसलिए आयास्य प्राणजय नाम है आयास्य प्राण एवं अत्र उपासक एक प्राणी उपासक है ऋषि ऋषि रवि तथा इसलिए प्राणी होने से ऋषि भी आयास्य हो जाएगा प्राण एवं अत्र उपासक ऋषि रवि तथा उपासक होने से ऋषि भी वैसे ही है आयास्य ही है यथोक्ता नाम ऋषिणाम एवं उक्त गुणकम उपासनम नान्यषाम विशेष विशेष वचनात् इति आशंका यहां शंका होती है कि ये जितने ऋषियों का नाम आया तीन ऋषि इन गुण विशिष्ट प्राणों की उपासना का अधिकारी वही होंगे क्योंकि विशेष नाम आया हुआ है अंगीरा बृहस्पति आयास्य नाम आया ये ऋषि इनके उपासक होंगे प्राण के उपासक बाकी नहीं ये शंका हो सकती है ये कहा यथोक्ता नाम है ऋषि राम जो पूर्व में कथित ऋषि हैं अंगिरा बृहस्पति आयास्य इन ऋषियों का ही उक्त गुणों उपासक वही अंगिरा आदि गुण विशिष्ट उपासना करना उन्हीं के लिए होगा ना अन्य शाम अन्य को नहीं होगा क्यों विशेष वचना विशेष वचना विशेष वचन कहा अंगिरा शब्द दिया बृहस्पति शब्द दिया आयस शब्द दिया है बाकी सर्वसाधारण की उपासना नहीं होगी है ये शंका आती है यदि असंज्ञ ऐसा शंका करके उत्तर देते हैं तथा अन्य भी का भाष्यकार कहते हैं तथा अन्य भी तीनों से अन्य जो भी होंगे लोग होगी उपासक जो प्राण उपासक होगा आत्मान अंगिरसादि गुणम प्राण उदीतम उपासित अपने को ही स्वयं को है प्राण से अभिन्न है उपासना करते करते तो वो भी अपने ये अंगिरा आदि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना और भी करे कोई फल होगा कोई प्राण भाव को प्राप्त होना होगा ये कहा तथा कहा विशेष से निशेष निवर्तन जो विशेष बोला जाता है बाकी का निवृत्ति नहीं होती है आज इसको अमुक भोजन देना तो बाकी को भोजन नहीं देना ऐसा नहीं होता विशेष जो होता है सामान्य के निषेधक नहीं होता सामान्य का निषेध करने वाला नहीं होता या विशेष कृषि का नाम आया अन्य उपासना नहीं करता तो ऐसी बात नहीं कर सकता है यही है विशेष न शेष निवर्तकत्व विशेष जो होता है वो शेष का निवृत्ति करने वाला नहीं होता साधारण को हटाएगा नहीं विशेष आज इस व्यक्ति को अमुक भोजन देना ऐसा बोल दिया तो दूसरे को भोजन नहीं देना बोला हुआ क्या भोजन करेगा साधारण की निवृत्ति नहीं कराता विशेष विशेष से न शेष निवर्त तुम प्रदर्शनार्थ विशेष जो कहा गया कुछ दृष्टांत तो प्रदर्शन के लिए वैभव दिखाने के लिए देखो ऐसे ऐसी ऋषि होने पर ऐसी उपासना की आप भी कर सकते हैं ये कहने में तात्पर्य है ये बताया अच्छा समय हो गया है ये रखते हैं कृपया ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि प्राणश्चक्षुस्तोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदनम् माहम् ब्रह्म निराकुर्या मा ब्रह्म निराकरो निराकरणमस्त्व निराकरणमेस्तु तदात्मनि मयि सन्तु ओम शांति शांति